लाल बने दी तावा में नल रोत खाक रवा मैं बर लाल बने दी छावा में बरी सोदा रंग बनाया है बिल अमले दा घबराया है बटवाल वाल खाक पावा मैं बटवाल वाल ਬਨੇ ਦੀ ਚਾਵਾ ਮੈਂ ਲੈ चांवां ਮਤ राक रवा